कौन ब्रह्मा का पिता है कौन विष्णु की माँ शंकर का दादा कौन है हमको दे बता ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर कबीर साहिब की प्रिय संगत जैसा कि आपने पीछे सुना था कि बंदी छोड़ कबीर साहब अपनी सब इच्छा से सतलोक से आकर एक प्रकाश में रूप में और लहर तारा तालाब के ऊपर एक फूल कमल के फूल के ऊपर बच्चे बच्चे के रूप में नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए थे कई भाइयों को जिनको कतई परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं जान नहीं वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते और जिसने परमात्मा की पूर्ण परिभाषा का ज्ञान है वो इसमें नकारा नहीं किया करता परमात्मा की परिभाषा को जो जान जाता है कि वो के के काम करा करे फिर वो सब बात को जान देता और जब जिसके मन में जब तक नो रहेगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये असंभव है इसको कोई नहीं बदल सकता कर नहीं सकता तो फिर वो परमात्मा के बारे में जानता नहीं भक्ति पर जरूर लगा हुआ है पर उसको पूरा लाभ नहीं मिलेगा एक भक्त भक्ति करता था साधना भी कर रहा था और दूसरा भक्त भी संत भी अपनी साधना कर रहा था एक दिन की बात है कि नारद जी ने वैसे किसी भी को बना सकते हैं हम ये कलाकार परंतु यहां क्योंकि पुरानी कथाएं हैं इनको उसी ढंग से लेना पड़ता है नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि हे ईश्वर श्रेष्ठ ये दो भक्त जो साधना कर रहे हैं इनमें कौन सा श्रेष्ठ है तो विष्णु जी कहने लगे कि इस बात का निर्णय आप खुद कर लीजिए अब कैसे फिर भी आप बताओ तो सही जो भक्त बहुत पहले से भक्ति पर लगा लगा हुआ था तीस चालीस वर्ष से और एक लग गया था दो तीन वर्ष से तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जो यो बाद में लगे है ना भक्त ये सर्वश्रेष्ठ है सर्वनावादन ये श्रेष्ठ भगत है अब नारद जी को संशय होता है कि हे प्रभुवर या तो जची नहीं बात है ये इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी और बेचारे ने जो है ना तनमन गाड़ रखा चालीस साल से साधना कर रहा और यो कल का बच्चा इससे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है कहने लगे आप परीक्षा ले लीजिए अब नारद जी जाते हैं उन भक्तों के पास दोनों के पास हाजिरी लगाते एक हफ्ता लगातार जाते रहे एक दिन वो कुछ देर से आए तो वो जो भगत थे उनमें से प्रथम भगत जो कि चालीस वर्ष से बैठा हुआ संत था वो कहने लगा कि भाई महाराज जी आप आज लेट क्यों हो गए देर क्यों कर दी कहने लगा भाई आज एक ऐसा तमाशा देखा मैंने कि के भगवान जो है ना एक हाथी ने और सुई की नोक में का काट था और बोला काट दिया अगले कड़े पाछा चाल काट दिया उसने तो वो जो चालीस साल से बैठा था ने बोला रहन दे बीरा किसा और जकर ना करिए क्यों झूठ पे अलग गड़ंग तो सुई के नाके में कर बोला हाथी काट दिया तेरे के शाम तो डोब रखा सारा काम अब वो नारद जी वहां से उठ कर चल पड़ा अब दूसरा भगत जो बाद में लगे हुआ था उसके पास जावे उसने भी प्रसन्न यही किया कि महाराज जी आज तो बहुत देर था है आ जाया करो दो घड़ी ईश्वर चर्चा हो जाती है और हमारा मन प्रसन्न होता है आज के कारण था मुनिवर कि आप लेट हो देर होगी <clears throat> नो बोला भाई के बताऊं एक ईसा गजब तमाशा देखा भाई बताऊ जब सूत नहीं आंदी और ना बताऊ डटिया नहीं जाता अग बता तो श्री अग देर न्यू होगी कि भगवान एक हाथी ने सुई की नोक में के काटा था अच्छा फिर जी और भाई वो निकल लिया ना उसका मां का जब मैं आया ओ हो हो हो भाई बहुत आपने महाराज जी वो नया भगत का है हाथी ने के ओ तो इस सारे पहाड़ नर पृथ्वी नर धरती ने इस नोक में के काट सके परमात्मा का आगे किए से हाथी नोक अब नारद जी का जचगी के हाँ भाई बात सही से यू लाज जरूर रहा है पर विश्वास भगवान का कति नहीं और जो नया भगत ने नो क्या कि हाथी के चीज से उसका आगे वो सोई माँ के सारे ब्रह्मंड ने काट दे परमात्मा में ये शक्ति हो सके अब नारद जी जाकर विष्णु भगवान तक कहने लगे महाराज जी ठीक को थे आप तक ओ तो पशु ऊ खाम खान लगते टंगे बैठा से ढाडी बढ़ा रहा से इसका विश्वास है नहीं भगवान के प्रति तो क्या की फल पाएगा तो इसी प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का आपको विश्वास का अंक सुनाएंगे फिर आपको जब तक हम अपने इष्ट पर देखो हमने प्रथम तो इष्ट चुनना भगवान कौन से की उपासना करें शास्त्रों में प्रमाणित तीन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा कि आपको वर्णन दे चुके हैं और उसके बाद ब्रह्म जिसका वेद वर्णन करते हैं कि एक निराकार शक्ति ज्योतिमा है तो और चौथा भगवान दोष है पर ब्रह्म ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म जैसे कल हमने बताया था कि महर्षि दानंद जी भी परमेश्वर शब्द का उच्चारण करते हैं परमेश्वर का मतलब है जगदीश जगदीश जगत का परमात्मा और जगदीश्वर उस जगत के भगवान का भी भगवान और फिर परमेश्वर यानी उनसे भी श्रेष्ठ ईश्वर वो पूर्ण ब्रह्म है तो इस प्रकार आज हम प्रथम तो हमने ईष्ट चुनना कि भगवान कौन से की भक्ति करे और फिर चुने पाछे उस पर पूरा विश्वास करना कि जिस भगवान को हमने चुना से उसमें ये ये गुण से ये काम कर सकता है जैसे डिप्टी कमिश्नर से हमने कोई कार्य करवाना है तो उसके बारे में प्रथम जानकारी होनी चाहिए कि वो इतना काम कर सके और वो हो मुख्यमंत्री के दायरे का हम दरखास्त धरे डीसी साहब के सामने और वो नाटे जब भी धरेरा ना तो माई बाप पर तो सब कुछ कर दिए उठा कर रद्दी की में घेर देगा भाई मेरे बस का नहीं है इसी प्रकार हम जो कार्य असली पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से होना है उसी से हम अगर मेल करेंगे अर्ज करेंगे तो हमारे वो काम भी होंगे जो कि जैसे हम प्रधानमंत्री से अर्ज करें तो हमारे मुख्यमंत्री वाले काम भी सर सके और नीचे शक्तियां भी हमारे साथ अनुकूल होंगी अगर हमारा जायज अर्ज होगी तो नाजायज तो भगवान भी नहीं सुना करे इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष शतलोक के मालिक से हम मेल करेंगे तो हमें वो गुण सारे मिल जाएंगे जो कि देवी देवता भूत पिशाच पत्र वित्रा के चक्कर मोड़ दे फिर या ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म तक अक्सर पुरुष तक के में उपलब्धि होगी तो जिस भी इष्ट का जिस भी भगत ने जाप किया वो पूरे विश्वास से किया तो लाभ मिला अन्यथा नहीं हुआ अब हम आपको बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी की वाणी से निश्चय का अंग सुनाएंगे गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक हम विश्वास अपने इष्ट पर नहीं करते इतना भक्ति करो चाहे मत करो कबीर साहब कहते हैं क्या हुआ हरि नाम से ना ही दिल विश्वास जब मन में विश्वास नहीं है तो उस नाम लेने से भी कोई फायदा आपको नहीं प्राप्त होगा और विश्वास के साथ जिन्होंने लिया कहते निश्चय गुजरी पार उतरगी पंडित भय फजीता एक पंडित जी कथा करा करता अरे गोकल गांव की गुजरी जो पिछले जन्मों की अच्छी साधवी रही हुई थी उसने वो कथा सुन व दूध बेचन अपनी दही बेचन जाया करती थी एक दरिया को पार करके एक दिन उसने सत्संग सुन का सुअवसर प्राप्त हुआ अपने काम न जल्दी जल्दी सी खत्म करके नमेड़ के और उन्हें सोची आज दो घड़ी सत्संग सुन लो तो उसमें पंडित जी कथा कर रहे थे प्रमाण दे रहे थे कि भाई परमात्मा के नाम की नौका पर चढ़ के बहुजल पार हो जाओ नाम की नौका पे चढ़ के पार हो जाओ अब गुजरी ने सोचा ये तो बहुजल तो पार करे यानी सारी संसार तय और मैं ये नाम ले लो तो मेरा जोश है या दरिया पार करने का काम है सर जाते ही चोखा दो अन्य बच जा रोज के तो आप बोली महाराज जी कि यू नाम की नौका दे दो मैंने अख ले ले बेबे नाम की नौका ले लो उसने नाम दे दिया अगजिया बहुजल तो पार कर देगी खूब कर देगी विश्वास करिए तो जी उसने उसी तरह अपने गुरु जी पर विश्वास करके बोली बाड़ी थी और चाल पड़ी और नदी के ऊपर के न्यू चलेगी जैसे थल पर कर जाते तो इबुआ के करे रोजाना अपना टोकनी मटका जो सदई का सिर पे और नदी दरिया पार कर जावे उसके ऊपर का चली जा जैसे थल पर चला कर एक दिन उसने सोचा कि गुरु जी ने मेरी कितनी सुख दे दिया मेरे पैसे भी बचा दिए और क्यों ना उनको एक दिन भोजन पर आमंत्रित कर दू भाई उसको भोजन खिला दू मेरा जो है गुरु अपने घर में लाउन का भी एक फर्ज बने से तो वह जाकर पंडित जी हाथ जोड़ कर बोली हे गुरुवर अखा भाई इस दासी के घर में दर्शन देने की कृपा करो हम आपको भोजन देना चाहते हैं अचाल बेबे सत्संग के बाद चलेंगे उन्होंने अपना कीर्तन कीर्तन कर लिया जब चाली चल पड़े उदरिया पर जाकर खड़े हो गए तो वह गुजरी ने बोली आ जाओ गुरु जी अकित अकचाल परले पार अकाछी बावली अरे डूब के मरे घीसी बूंदी दरिया नौका नालन दे बोले गुरु जी नाम की नौका पा जाओ न बोले आची पागल नाम की नौका बड़ मरांगे दोनों डूब के तो कहते हैं गुजरी नो की नो पटापट करके पार चली गई और फिर उल्टी आ गई गुरु जी नो आ जाओ तो गुरु जी की तड़े नाड़ और गुजरी नो दड़ दड़ चली गई तनो बोली पंडित जी क्यों खाम खा पढ़ा भी करो जब तेरा विश्वास नहीं इस ईश्वर के ऊपर कि भी यू काम कर सकता है बिना विश्वास के मेरी कथा कहने तौर करण तो कोई लाभ नहीं होगा तो महाराज भी कहते हैं कि निश्चय गुजरी पार उतरगी पंडित बहे फजीता तो इस प्रकार अब आपको हम थोड़ा सा निश्चय का अंग सुनाएंगे तीन सौ बयासी पृष्ठ पर कहते हैं जयदेव मुख से ना कही हुई तीन लोक में गाज और जरना ऊपर होता है सकल संपूर्ण काज ये बहुत सी कथाएं हैं जो आपको हम सुनाएंगे अथ निश्चय कांग बंदी छोड़ दास जी की महाराज की वाणी गरीब अपने दल साधु नहीं वा को दर्शा दे मैं से सिंह से जानिए गति कछु अगम अगादे एक बार एक पाड़ी था गौ का पाड़ी महस का भैंसों का गौों का पाड़ी जाया करता था और बाहरवाई सी एक मंदिर बना हुआ था उस मंदिर में एक पंडित जी कथा किया करता था वो पाड़ी जब भैंस जोड़ में बैठ जाती या बार बैठा देता उन पर छाया में कुछ कुछ समय उस मंदिर में उस पंडित जी की कथा सुन खातिर चला जाया करता था और वो सुना करता था भगवान से बहुत काम सरे कोई कोई आके माई कहती भाई कहता मेरा यू काम नहीं होता पंडित जी दोनों कहा करता भाई भगवान का नाम ले ले ठाकुर जी ले जाए उसने तो अपना धंधा खोल रखा था मेरा कैसा था कोई एक मूर्ति बना रखी थी पत्थर की जो बोला ये सालग्राम ने ले जा और ऊन ही दिखाया करता उसने एक लाल कपड़े में लपेट के और उस माई या भाई ताई दे दिया करता कि रोज तो इसका भोग लगाइए और भाई पंद्रह मैदन मन ने बुलाइए जमान खातिर और इतने रुपया डा दर्जा इतनी ठाकुर जी की कीमत से और या इतनी गुरु दक्षिणा और ये ले जाए अब पाड़ी ने सोचा कि तू तो इतना दुखी से भैंस कदे किसी के बाजरा में बढ़ जा है कि गऊ किसी ज्वार में और को पीता है को छेता है यू अच्छा पंगा पड़ेगा तू भी ले रहे ठाकुर जी जहां तेरा भी काम सर जा यू पालिए बन जा मेरी मैं सहन रोक दे गौवा ने हिर लिया एक दिन हाथ जोड़ के नो बोला पंडित जी कहा भाई एक ठाकुर जी मन ने भी दे देने अके के करेगा अग बहुत दुखी हो रहा सुमरी मेरी ये गऊ इधर उधर भाग जा और मैं तंग पा रहा सू एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है एक ठाकुर मन ने भी दे देने अब उसने सोचा पंडित जी ने जब नाटेगा तो डले मारेगा क्यों पाली को बद्दी भी हो से और देगा तो ठाकुर की प्रतीत नहीं करे ना इसने बेरा यू तो देखा देखी लगे हो उन्होंने बोला भाई तड़का नहा धोका ये सुबह सुबह है हाँ? और जब दे दूंगा अनु बोला देख पंडित जी पीछे मेरे दुरस है कौन अब तेना बिना वाला ठाकुर दे दूंगा बोला अच्छी बात पंडित जी दंगल पानी होने गया था तड़के एक भैंस का टूटा सींग ठा लिया और जाकर उसने लपेट कर लाल कपड़े कर नाले उसका लपेट कर धर लिया पाली आंधे दे दूंगा और पाली का तो लगन लाग रही क्योंकि वो तो आत्मा से दुखी होकर मांग रहा था उस तो वस्तु जाकर ने बोला पंडित जी के आ गया भाई अका तो पाली पहुंचा अक आ गया भाई अक आ गया पंडित जी बहुत दुखी सो मन ठाकुर जी दे दे अकले भाई देख एक काम करिए इसमें रोजाना रोटी मतलब भोग लगा कर जब खाइए अकमारा जी भोग क्यों कर लाया करें कि ठाकुर जी ने पहला खवा कर फिर खाया करें पाछे थे बोला अच्छा महाराज और लेकर ठाकुर जी ने और बोझ कर अपनी चादर में कदे को देखना दे देख काख में और घर पहुंचा हाँ फिर उन्होंने बोला अक महाराज जी यू तो छोटा सा से काम क्यों कर सारेगा कि बड्डा हो जाएगा फिर थोड़े दिन में वो तो बंडावा था उसने डगावा था बारे ने आगे दिन अगे थोड़े दिन में पूरा हो जाएगा और फिर तेरी गऊ गऊ हेर लिया करेगा बोला अच्छा जी हाँ पर इसने ने कहा बहुत जरूर लांदा रही है तो उसने जाकर के शाम ने अपनी भैंसा का जहां गऊ बांध्या करता उसमें एक आड़ा सा होया कर का उसमें अपने बर्तन वर्तन दरिया करता वहां रख के एक आड़े में उसका लगा के एक पर्दा सा और ला के अपनी खिचड़ी रोटी जो मिली गला के कटोरे जिस भी साधन में दिया करते उसने और वहां जा उसका माँ दर कहने बोले ठाकुर जी भोग लगा लो ठाकुर जी भोग लाइयो उनने सोचा वो क्या खावता क्यों तो मैं इसका सींग और वो काफी देर कहता रहा उन्हें सोची यो तो बड़े बड़ा का रोटी खावस है और मेरी गरीब की ना खाता रोन लाग गया ने बोला महाराज जी ये भगवान मैं तो गरीब सू ना तो दही ना पकौड़े मन तो ये दो रोटी मिले ये महाराज जी ये रोटी खा दो उन्हें नहीं खाई सुबह होगी उसने भी नहीं खाई पाड़ी ने भी नहीं खाई अगला दिन भी बीत गया तीसरा दिन न्यो बोला जी रोटी खा लो महाराज जी और नहीं तो लिहाज मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा मेरे घर में और भगवान और भूखा उन्हें सोची या कि जानते कुएं में कूद डांक मारेगा भगवान ने उसी समय उस सींग से प्रगट होकर परमात्मा सामने खड़ा हो गए सींग नहीं दिखा फिर उसने एक सत्रह अठारह साल का जवान छोरा बच्चा और सामने खड़ा हो ओहो हो जय हो गुरु जी की वाह भाई ठाकुर तो भी कति पक्का है लेके जा है कति मारे कर मान्या है और चार लाठी ले ले उन्होंने बोला काम बता भाई पाड़ी एक पा, पाड़ी जो रखी काम सब आई एक लाठी ले ले और मैं बहुत दुखी हो रहा था भाई भला हो मेरे गुरु जी का खेत में अपना पाड़ी चले गए अब वो लाठी दे दी उसके हाथ में उड़ा पाड़ी जाए पाछे और आप आराम तक लौट गया की करतला थोड़ी देर में बेचार आया ले पाली तई होएगा तो गुरु जी आना अपना शुक्रिया तो कर वो जाके नो बोला गुरु जी और गुरु जी ने बह हो रहा अक्सर जान लठा वैसे एक लाठी वो भी ले रहा था आकाश तने दिया था बड़ा त्री शायद से तो और बैठे थे ना साथियों ने बोला भाई ने पकड़ियो कदे मेरा ठोक दे पहले इसकी बात समझावांगे कि मैं और दे देंगे आज इसने तो वो गए नु बोला के बादशाह पाली नु बोला मैंने गुरु जी आगे पाँव पकड़ लें दो और गुरु जी उल्टा उल्टा आता है कभी पकड़ के बिठा दे तो उसने जो है नो बोला भाई ठीक से उड़ेत कर ले उड़ेत कर ले तो हाँ हो गया नो बोला गुरु जी बोला हो तेरा अक्की बात है अकबर निहाल कर दिया पर ठाकुर जी चौथा दिन बनाओ तो चौथा दिन पूरा होया मत जीत मरण हो गया था रोटी मन ने भी नहीं खाई इतने उसने नहीं खाई अब पंडित जी के कान खड़े हुए अके कह भाई अगजी चौथे दिन उसने फिर अपनी आत्म मतलब आत्मा की अपनी जो बीती हुई आत्म बीती ज्यो की त्यों कह सुनाई जब पंडित जी का विश्वास होया कि भाई कर्मा बाई का भी खाया था खिचड़ा और नामदेव के भी दूध पिया और भगत तो भाई सच्ची लगन कर लग गया है जरूर बन गई होगी बात क्यों ज्ञान तो था पर विश्वास नहीं था उसके तो बोला भाई कित छो भगवान अकपालिश है वो लाठी ले रहा देखो खड़ा कितने अकोड़ मेरे पशुआन हेर रहा सर अकमन ने भी दिखा देगा ले अभी क्यों बात हुई वो तो देश ने दिखा है चाल उन्होंने सोचा यू सब न दिखा है पर दिख है उसकी जिसकी सच्ची आत्मा तो पंडित जी गेल गेल हो लिया पंडित जी ने सोची कर देश भी देख ले उन्हें करके चालते सारे अपने साथिया ने जो सेवकारे थे ने बोला मैं एकला चालूंगा एक ले गए नो बोला ओ खड़ा भगवान देखो खड़ा वो लाठी लाठी दिखे पंडित जी ने कहा ओ भगवान नहीं दिखे और वह लाठी फिर कुआ नो जाती दिखे कुआ नो चालती दिखे पशुआ का नहीं जचता उसका गई सह तो परमात्मा जब लाठी हुआ वहां हलन लाग रही हूं तो नहीं हिल सकती फिर नो बोला भगत जी एक बार तू अर्ज कर दे मन ने भी दर्शन दे दे क्योंकि नामदेव के पिता ने दर्शन नहीं होते और नामदेव नौका जी यू बैठा भगवान ये दूध पिया इन्हें उसने बोला बेटा एक ब्राह्मणी भी दर्श करा दे तो उन्होंने अर्ज करी थी जो भगवान ने विठल जी ने नामदेव के पिताजी थे दर्शन दिए थे तो उसने न्यू अर्ज करी कि सैकी रजा से मुझे दर्शन होंगे अन्यथा नहीं हो सकते तो बोला भाई पाड़ी मन भी दर्श करा दे ने बोला भगवान मैं जूठा हो जाऊंगा और कोई विश्वास नहीं करेगा एक बार गुरु जी दर्शन दे दे तो उसी रूप में लड़के के रूप में लाठी समेत उसने भी दिखन लाया तो खुद भगवान ने बोले पंडित जी मेरी बात बनाने तक काम ना चले अपना कि मैं करनी करो जब जाकर गुजारा होगा तो महाराज गरीब कबीर साहब भी कहते हैं कि बात बनाई जग ठगया और मन पर मोजा नाही कबीर सवारथ ले गया भाई लख चौरासी माही तो यहां आता है कि गरीब अपने दल साधु नहीं वाकू दर्शा साहा दे मैस सिंह से जानिए गति कछु अगम अगाध कि मैं सिंह से भी प्रकट हो गया भगवान अब इस एक लाइन को महाराज गरीबदास जी की वाणी को सुलझाने के लिए कितनी बड़ी कथा सुनानी पड़ती है और इस वाणी को अगर सारी न खोल कर सुनावा तो तीन साल में पूरी हो या रोजाना छह घंटे पूरी इजाजत इतनी गजब इसमें कथाएं हैं यानी इन्होंने कैप्सूल बना रखे हैं अब जैसे जिसने इस कथा का ज्ञान हो गया फिर इस वाणी को पढ़ेगा तो इस लाइन के पढ़ते ही पूरी कथा उसके दिमाग में घूम जाएगी अर्थात उस पूरी कथा का जो पंडित जी तीन दिन में पूरी करता है एक सेकंड में उस पढ़ने वाले को इस वाणी द्वारा लाभ मिल जाता है मतलब कथा करने वाले केवल यही लाभ देते हैं कथा का लाभ मिला एक वाणी एक कथा ने एक पढ़ लो रामायण एक बार देख ली दो बार पढ़ ली तीन बार पढ़ ली वह सारी याद हो जैसे फिर इस ग्रंथ साहब में पढ़ वह एक अभी आप रामायण सुनाएंगे आपको इसमें महाराज गरीबदास जी ने कितने मार्मिक ढंग से लिख रखी अर्थ थोड़े से दो यहां में पूरी रामायण भर दी अर्थात जिसने ज्ञान से फिर इसने पढ़े उस रामायण का कुछ ही अक्षणों में पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा निश्चय ऊपर नाम देव को पाहन दो कलाया मैं से सिंह में साहेब आए नाम लपोचन पाया गरीबदास जी महाराज कहूं मैं सिंह आओ दिया ना जब उसने सिंह पाली ने बोला इसका के नाम से लपोचन नाथ धर लिया इसका नाम और लपोचन नाम नाथ नाम धर लिया उसका तो बंदी छोड़ के हैं कि महस सिंह में साहेब आए परमात्मा आए और नाम लपोचन पाया ये जो हम आपको तरतीबाज समझवाएंगे कि जिसने तीन लोक की उपासना करी उनको तीन लोक के भगवान ने आकर लाभ दिया और जिसने सतलोक आया की करी उनने उन आकर लाभ दिया जिस इष्ट की जो उपासना करेगा उसका वही साथी होगा अब कहते हैं कि निश्चय ऊपर नाम देव को पाहन दूध पिलाया पाहन कहते हैं पत्थर को दूध पिला दिया ये भी कथा हम आपको सुनाना अवश्य समझेंगे क्योंकि ये कथाएं एक बार जान लोगे तो बंदी छोड़ की वाणी को पढ़ने में आपको बहुत आसानी तथा सुविधा बनी रहेगी और आनंद आवेगा फिर एक बार एक छिपी जाति के भक्त हुए हैं वैसे संत जात नहीं लेते परंतु जो फीत लादी एक बार वह उतर दी नहीं और संता का जात नहीं होया करती ना परमात्मा की घर में कोई जात मजहब है लख चौरासी जात बताई है जो जीव जंतु बने हुए ये जाति है मनुष्य एक जाति है कर्म अनुसार हमने अपनी जातियां आप नाम दे तो नामदेव जी के पिताजी और माताजी ने एक दिन गांव जाना पड़ गया दूसरे किसी कामवश और वो भी एक विठल नाम के परमात्मा की मूर्ति बना रखी है वो विष्णु भगवान को विठल रूप में मानते हैं उस विठल भगवान की मूर्ति बनाकर मिट्टी की एक आड़े में रखी थी माता पिता रोज उसको भोग लगाकर पाछा दूध पिया करते थे ठाकुर जी को विठल जी को दूध का भोग लगाया जाता था एक दिन वह दोनों ने किसी कारणवश जो पहला पैदल जाना होया करता पैदल आना होया करता तीन चार दिन जान में एक दो दिन जान में एक दो दिन आन में चार पांच दिन उनके ऐसे लगने थे तो अपने बच्चे नामदेव ने छोड़ गए बेटा न्यू करिए कि रोजाना ठाकुर जी को भोग लगाया करिए और जखेरे ख्यास करके उन्हें सोची बच्चा है दस बारह साल का कदे यो काना पै के ना टाल जा और ख्यास ना करे तो नो बोला रे नामदेव कहा पिताजी तेने सुनया कि नहीं के पिताजी कि इस ठाकुर जी ने दूध भोग ला के जब पाछे तू दूध पिए कदे पाछे पानी प्रयोग करना कदे भूल जा बेटा मारी सारी खुबात खो दे तू अक नहीं पिताजी पहले ठाकुर जी को पिलाऊंगा फिर पाछे पीऊंगा अब उस बच्चे ने कभी देखा नहीं था कि भोग क्यों कर लागे से उनके पिताजी जाया करते थे या माताजी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के दूध का कटोरा भर के मीठा करके और ठाकुर जी के पर्दे के पीछे बैठ जाया करती थी लड़का अपने खेल में लग जाता इतना जरूर देखता था उसने ये विश्वास था कि माता पिता ठाकुर जी को दूध पिला का हमसे है उसी प्रकार उन माता पिता के जाने के बाद अगले दिन उन्होंने नहा धोकर नामदेव जी ने और दूध का कटोरा लेकर स्वच्छ कपड़े पहन कर ठाकुर जी का गदर दिया पत्थर की मूर्ति का गया और प्रार्थना करे कि हे ठाकुर देव भोग लगा आप भोग लगाओ दूध पियो महाराज अब वो पत्थर कहा दूध पियो अब नामदेव जी घबरा गया के के में तेरे में कमी से और किस वक्त के मंत्र उच्चारणा था के कहना था वो पूछा नहीं मैंने गुरु महाराज माता पिता से और बयान दे पीटेंगे तने तो कसूता काम कर दिया नो कहकर रोन ला गया बहुत बुरी तरह रोया पर दूध नहीं पिया दूध धरा रहा अगला दिन हुआ वो दूध उठा के उसने पशुओं को डाल दिया अगले दिन आप भी नहीं कुछ खाया पिया अगले दिन फिर इसी तरह तीसरे दिन थे जब कति नामदेव नु हो लिया कि आज यू रो रो कर मर जावेगा दिन रात नींद नहीं आओ छोरे ने जब परमात्मा ने देखा कि इस बावड़े ने ना बेरा हुआ तो वो मुंह का एक बांगड़ी लाया करते और आप गटगट पी कर उड़र उल्टा जाया करता था अरे रो रो रोए साका मचा रहा तो भगवान प्रगट हुआ न्यू का न्यू और पी के दूध के कटोरे ने नुबला ले भाई नाम दे नुबला महाराज मेरे के गलती होगी थी अक फिर बताऊंगा नू कह कहो फिर बिठल बन गए उसी तरह मूर्ति में मात पिता चार दिन में आए पांच दिन में आए इसी प्रकार वो रोज दूध पिलाने लग गया इब आंधे माता पिता ने प्रथम प्रश्न ये क्या रहे नाम देवक अक हाँ माता पिता हाँ पिताजी के भी ठाकुर जी को दूध पिलाया अक हाँ पिताजी लेकिन पिताजी ठाकुर जी मैं आपसे पूछना भूल गया कि किस मंत्र से क्या जाप करना चाहिए था और किस प्रकार दूध पीवे थे दो दिन नहीं पिया माँ पिताजी मैं तो रो रो कर बहुत दुख पाया और फिर तीसरे दिन इन्होंने पता नहीं की दया करी दूध पी लिया दूध पी लिया अखा हाँ, दूध पी लिया अरे सच बता दूध पी लिया अखा हाँ, दूध पी लिया अरे मूर्ख तू रे ना तन्ने पिया किसने पिया अक नहीं पत महाराज ठाकुर जी ने पिया वो फिर डर गया कि सोचा तू तो पी गया और पिटे अक नहीं महाराज जी मन तो मुंह कभी नहीं लाया जब तक इन्हें नहीं पी लिया पिताजी अब उस पिताजी का जाडा चढ़ गया अगर तू साची बता दे छोरे अग पिताजी मैं आपकी कसम खा कर कहूं सो ठाकुर जी ने दूध पिया अकीब भी पी लेगा अक महाराज रोज पीवे है आज क्यों ना पीवेगा तो फिर महाराज ने उस नामदेव जी ने <clears throat> क्योंकि जल्दी आ गए थे उनके पिताजी जब तक भोग नहीं लगा था स्नान किया और दूध का कटोरा जागा धर दिया और उसका पिता देख है उसकी मां है दूध नहीं पिया फिर कांप गया वो छोरा अख देख महाराज जी आदमी मैं तो वो डर था रोय हो गया भाई आप दूध नहीं पियोगे मेरा तीन तो खोसड़े पड़ेंगे ये ना कहेंगे झूठ बोला था तू दूध पिया तो तो छोरे के अब भी मतलब उसकी सत भावना को कर भगवान फिर प्रगट हुए और ला कर मुंह कर दोनों हाथ सामने माता पिता देखे और ला कर दूध गत गत पूरे कटोरे में पी गए भगवान अब दोनों माता पिता का भाई छोरे को छाती कला एक बेटा त्रे भागा छे अके पिताजी अगर हम तो मुंह कला करते एक आंगड़ी इनके और बाकी मैं पिया करता हूं छोरा के कब है भाई तू तो पिया करता मेरे दौरती ने पी लिया उस ल, उसके पिताजी ने गांव में बता दी इब गांव वाले मेरे किसी मूर्ख वो जाने नहीं भगवान की महिमा को न बोले रहे देख ये नीच के बूंदी झूठ बोला नो कह मेरे छोरे ने बिठलता ही दूध पिवा दिए प्या दिया अरे तुम मतना चालती करे न बोला जी सच ही कहूं सो गांव वाले सच कहूं सो क्यों जो उपलब्धि हो वह डटिया नहीं जाता बताए बिना अब गांव की पंचायत होगी न बोला रहा देख ये दुनिया ने बदनाम करने लाग ने होगा बीठल इसका घर में नीच के घर में दूध पी गया तो उन्होंने पंचायत कर ली सैकड़ों आदमी इकट्ठे हुए ने बोला भाई किस कारण से हुई पंचायत हम आपको बताते हैं बात कि इसने झूठ बोली है नामदेव के पिता ने के झूठ बोली के विठल दिया को मेरे लड़के ने दूध पिला दी और भाई यू विठल जी ले रखे मूर्ति और यो दूध का कटोरा और ये दोनों मात पिता बुला रखे ना लड़का पुत्र पिता बुला रखे और ईद प्या के दिखा दे हम जान जाएंगे भाई दूध प्या दिया नहीं तो तेरे को वह सजा दी जाएगी घसीट घसीट का गांव के चौबर कर काला मुंह करा जाएगा थारा दोनों बाप बेटा का अब नामदेव जी बैठा बैठा बैठा भीतर भीतर रोण लाग रहा हे बंदी छे परमात्मा या कोड को बद मोल ले ली पिताजिया ने चलो जो कहा सो कहा हाँ भाई खड़ा हो नाम के पिताजी तो बोले के कह था तू अग्जी मैं नू कहूं था कि मेरे लड़के ने हमारे सामने विठल भगवान की मूर्ति को दूध पिला दिया पत्थर को और उसमें परमात्मा प्रगट हुए जो हाथ लकड़े बार मूर्ति के मुंह का लाकर पी गए और सारे दांजरे पाड़ा ही ही ही ही ही देखो रे यू के कव है तो बिठल अपने उसका नाम देव खड़ा हो उसे न्यू बोला गाम राम मेरे पिता का मजाक मत करो ये जो कुछ हुआ मेरे सिवा अक्प्या दिखा जब जाना तना अटाक उस पर्दे ने और दरका आगे दूध नु बोला है परमात्मा मैं बहुत नीच व्यक्ति हूं कि मैंने सबका आगे हिसाब की जो भ्रम फोड़ दिया सतगुरु परमात्मा आईब आपकी लाज इस जीव की आपके हाथ मेरी लाज आपके हाथ में सतगुरु परमात्मा इतना कहा था कि सारी पंचायत के सामने काट के नो के नो हाथ ठा का कटोरा गट गट पी गया अब सारे पंचायत सतप रह जाती है वहां को 200-300 आदमी सामने बैठे और खड़े हुए और देख रहे थे और सब ने नामदेव को छाती से लगा लिया सब लड़के का ठाए ठाए फिर कहा तो काला मुंह करना था और सारे गांव में छोरे को गोदी ठाठा फिर हमारा विठल जय हो नामदेव की जय हो नामदेव की तो ऐसा महाराज कहते हैं गरीब निश्चय ऊपर नामदेव को पाहन दूध पिलाया मैस सिंह मैं साहेब आए नाम लपोचन पाया ये गरीबदास जी की इतनी मार्मिक वाणी है इसको समझने की जरूरत है बस फिर क्या कहा एक समय नामदेव जी क्योंकि ये पिछले संस्कारी जीव थे नामदेव पिछले हंस थे युगा युगा भक्ति करते आ रहे थे अब ये छोटे छोटे बच्चे हमारे उपदेशियों के ये ओडड बच्चे ये पिछले संस्कारी हंस हैं नहीं बड़का कारण के काम केरा किदग जावे बैठ का बारी लो छुट्टी होगी थी इनकी टांग तड़वाओ क्या दारू पीन सीखो क्या बीड़ी के गुट मार छुट्टे मारो कि बैठ कर अनजान व्यक्तियों के पास क्या ताश खेलन सीखो क्या फिर रही थी आजकल टेलीविजन ने करा क्या काम दिन रात हुआ देखो तो ये पिछले जन्मों के संस्कारी हंस है इसी वजह से पिछले काम सरा करे तो एक बार नामदेव जी एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे उसमें आरती हो रही थी इतने आरती हो रही थी मंदिर में और नामदेव जी ने सुना अब भगवान की स्तुति हो रही है उस मंदिर के पास ही जाकर क्यों नीच जाति वालों को अंदर नहीं बढ़न दिया जा करता पहले बाहर खड़े रहा करते थे वो भी टुकड़ा लेन खातर नामदेव जी बाहर खड़े थे आरती होनी शुरू हुई आत्म विभोर हो गए और फिर घंटी वो बादन लगी ना धुन हुई तालियां बजन लगी तो नामदेव जी पर डटा नहीं गा अपनी जूती काट के और उनकी घंटी बना के नू ला गया बजान मस्त होके और इतना टूल गया कि जहां आरती स्तुति हो रही थी उन पंडित जिया के बीच में जा बड़ा और उन्हें देखा कि नीच जाति का हाथ में जूते पकड़ के उसकी बां और मंदिर के पाछे बगा दिया अब फिर देखांगे तुम कहते हैं भगवान ने उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया और पंडित जी पांच छह घंटी बजाओ उसका पछले कान फिर उन्हें देखा यू क्या हो गया फिर जाकर उस बच्चे के पांव पकड़ लिए और वहां से नामदेव जी उठकर डांक मारी हकमा कहा आ गया था छलांक लगाई कूद गया जाता रहा तो यहां महाराज कहते हैं निश्चय ही से देवल फेरा देवल कहे मंदिर को ग्रीब निश्चय से देवल फेरा पूजो क्यों न पहारा नाम देव दरवाजे बैठा पंडित को पछवारा नाम तो सामने बैठे और वो पंडित जी पछले का न खड़े पिछवाड़ा पाछे में अच्छा फिर क्या हुआ एक बार नामदेव की महिमा राजा ने सुन ली और एक ऐसा हिंदू है के नौके हैं वो बहुत चमत्कार दिखावा है उसको बुला लिया कि भाई नामदेव तेरे भगवान में गणी शक्ति है अग्नि मेरा के भगवान तो आपका भी है नाम अंतर है आप अल्लाह को हम राम कह कोई फर्क नहीं अब तेरे इस राम में गणी शक्ति है अग्नि शक्ति राम में व्याय करे अच्छा तो, तो बहुत आगे शागे बोल रहा है <clears throat> या गऊ काट दी इसको जिंदा कर दी तो कहते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के हम उस नाम देव जी की गऊ को जिंदा करने के लिए शब्द रूप में गए यानी कबीर साहब गरीबदास कबीर साहब एक शक्ति जैसे राम और कृष्ण विष्णु अवतार इसी प्रकार कबीर साहब और गरीबदास जी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म के अवतार है तो उसी समय वह मृतक गऊ जिंदा कर दी और राजा ने नामदेव जी को के चरण छुए और अक्षमा याचना की तो यहां कहते हैं गरीब निश्चय ही से गऊ जवाई निश्चय बछरा चू होंगे ज्ञापन काट दी थी दो टूक हो गए थे चार वहां की गरीब निश्चय दिशा दिशंतर देश दिशंतर भक्ति गई है फिर क्यों ना लावो भू ग्रीब निश्चय ही से गौ जवाई निश्चय बछरा चूहूंगे देश दिशंतर भक्ति गई है फिर क्यों ना लागो भूंगे अब हम आपको बंदी छोड़ कबीर साहब की महिमा सुनाएंगे के पूर्ण परमात्मा के जो गुण होया करें वो कबीर साहब में विद्यमान थे एक समय की बात है कबीर साहब के दो शस हुए एक परिवार क्योंकि चौसठ लाख शस थे वैसे तो कबीर साहब की चमत्कार देख कर उस समय चौसठ लाख चेले हो गए थे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तो एक मनियार था सम्मन नाम का वो और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था नेकी और एक उनका लड़का था सेव एक दिन कबीर साहब ने एक कमाल नाम का जो लड़का शिष्य था उसके भ्रम को दूर करने के लिए क्योंकि वो अपने मन में न सोचा करता कि तेरे जितना कबीर साहब का सेवक है नहीं मैं बहुत सेवा करता हूं इस भ्रम को दूर करने के लिए और साथ में दिखाण की खातर के भक्ता के घर दूर होया करें भक्ति के घर बहुत दूर से बिरा तो उसने एक शेख फरीद नाम के संत आपने सुना होगा बहुत बड़े तपस्वी मुसलमान उसके अंदर धर्म है अब थोड़ी सी इन बातों को पूर्ण विवरण लेकर चलाएंगे तो यह स्टोरी पूरी जड़ेगी कहानी अन्यथा कच्चेपण में रह जाओगे क्योंकि हमने तो सारा जानकारी हो चुकी है और हम जल्दी भी कर देते हैं कई बार के इस उद्देश्य से कि इन संगत ने कई बार सुन रखी है लेकिन आज नई संगत आने की वजह से हम उसी ढंग से चल रहे हैं जैसे ए बी सी डी पढ़ा कर बालक ने पहली तले तो लेकर आखिर तक शेख फरीद नाम के एक मुसलमान संत हुए उनके बचपन में लगन थी क्योंकि पिछले संस्कार बस ही इसका लगन लगे आप जो आज सत्संग माए हो वैसे नहीं आगे कभी कोई नो सोच रहे हो कि हम आगे नहीं आपके अच्छे संस्कार लाए हैं यहां पर वैसे नहीं आ सकते यहां कति भी नहीं आ सकते हमने गारंटी देकर कह सकता हूं जिसके माड़े भाग से इसमें बढ़ नहीं सकता और बल्कि बाहर से नो का कर चला जाएगा कि ये पाखंड जगह जगह होने लायक ये सत्संग अपनी होशियारी के कारण तो छोटा सा बच्चा था शेख फरीद वो बहुत शरारती था बच्चा क्यों लाने ले आता उसकी मां ने सोची इसने ऐसा काम क्यों ना ला दो इसका कर्म भी बने और आदत भी माड़ी है न्यो बोला बेटा उसकी माँ कहे से के बेटा तू नमाज कर लिया कर अके करू माँ क्यों नमाज क्यों कर लो के देगा मन के मिलेगा नमाज से वो खजूर बहुत खाया करता अल्लाह तुझे खजूर देगा बेटा खजूर देगा साची माँ कहते झूठ बोलती हो तो ना बेटा अल्लाह खजूर देगा माँ ने सोची थी यो नमाज करण की विधि बता दी के, के मैं बोलना आवा था उन्होंने बता दी बेटा इतनी देर नो माथा टेक कर लौटा रही है हाँ? और फिर आंख ऊपर न करना और उसने नो विचार किया कि यू आंख नीचे ने अपनी मुंजागा इतने तो उस, उसके आसन का तड़ है और एक लिफाफे से में या कोई बर्तन में खजूर दिलाइए उस लड़के ने विश्वास दिलाने के लिए माँ ने कोशिश करी लड़के ने जो है ना आसन बिछा दिया एक बिछोना सा और वो नो नाड़े टेक कर बैठ गया ये दंडौत करते निर्गुना विरा के कहना पर कर जरूर रहे हैं इनके लगन जरूर लगाई परमात्मा ने ये भी इनको फल मिल रहा है तो वो माथा टेक कर बैठे उसकी मां ने जाके उसके पल्ले तले आसन के का तले एक पत्ते से में पत्तल से में और वो खजूर दे आई वो उठ बाजा आया जब काफी देर हो रही ना उसने कर करा कर नो बोली नो बोला माँ तो तो जूठी है माँ तो जूठी है अके बात बेटा अल्लाह तू कथी अल्लाह खजूर दे ए झूठी वाह ई पाछा नहीं करूं कति भी बोले बेटा ना अल्लाह झूठ मैं झूठ थोड़ी बोलू अपने उसने बिछोने ठा के देख